सज्जनों माताओं हम एक मंत्र से ईश्वर की स्तुति करेंगे क्या शब्द है तदेजति तत् न एजति तत् दूरे तदु अंति के तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य अस्य बाह्य फिर से सुनिए तदेजति बोलिए तत् नएजति तत् दूरे तत् उ अंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य अस्य बाह्येन ये यजुर्वेद का मंत्र है इसका संक्षिप्त अर्थ ये है तदेजति तदेजति का अर्थ है कांपता है तदेजति कांपता है चलता फिरता है तत् न इसका अर्थ है भगवान कांपता नहीं है चलता फिरता नहीं है तद दूरे तत् दूरे वो दूर है तदु अंति के ईश्वर समीप में सर्वस्य अंतर सर्वस्य जो सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ है उसके अंदर विद्यमान है और जो बाहर से बाहर पदार्थ है उसके बाहर भी विद्यमान है कुछ मंत्र का सारा समझ में है जी फिर से सुनो तदेजती जो लोग ईश्वर को नहीं समझते वो ये मानते हैं ईश्वर चलता फिरता है तदेजती कांपता है चलता है तो वेद में उत्तर दिया गया तत्मेजती क्या उत्तर दिया गया जो लोग ईश्वर को नहीं समझते गलत समझते हैं वो ये मानते हैं तदेजति भगवान चलता है फिरता है कांपता है तो वेद में उत्तर क्या दिया गया तत् नएजति ईश्वर नहीं चलता फिरता तद दूरे वो ईश्वर दूर है जो लोग उल्टा आचरण करते हैं उनसे ईश्वर दूर है तदुवंती के जो सत्य आचरण करते हैं उनके बिल्कुल तदंतर से सर्वस्व जी ये क्या है इसके अंदर क्या है नहीं? और उसके अंदर क्या है अंदर अंदर चले जाइए अंदर अंदर अंदर जो सबसे अंदर है वो कहते तद अंतर जो सबसे सूक्ष्म है उसमें भी भगवान है ये शरीर है है या नहीं है नहीं इस शरीर में इंद्रिया है और उन इंद्रियों के साथ में मन है और उस मन के साथ में जीवात्मा है और जीवात्मा के अंदर भी ईश्वर है तदंतर से जो अंदर से अंदर है सूक्ष्म से सूक्ष्म है उसमें ईश्वर विद्यमान है ये कहना चाहता है फिर बाहर के पदार्थों को लेता है एक और संकेत कर दिया अंदर से अंदर अंदर से अंदर अंदर से अंदर ईश्वर विद्यमान है तदु सर्वस्व से बाह्य है जितना जगत दिखाई देता है और नहीं दिखाई देता इस जगत के बारहवीश्वर अब तो याद हो गया होगा क्यों जी हरिश्चंद्र जी याद हो गया होगा अब तो अब मेरे साथ बोलना है कई लोग तो शामिल बाजा बजाते हैं शामिल बाजा शामिल बाजा समझते क्या होता है है जो सारे बोलते हैं तो वो ठीक बोलते हैं और दिखते ऐसे हैं जो सचमुच बोल रहे हैं किसी ने कथा सुनाई भाई एक राजा ने सारे संगीतज्ञों को इकट्ठा किया और भाई अपने अपने बाजे सुनाओ और मुझे दिखाओ मैं संगीत के विषय में रुचि होगी जानना चाहता हूं एक व्यक्ति ने सोचा कोई बिंजू है कोई सितार है कोई सारंगी है कोई हारमोनी है कोई तबला है पता नहीं कितने बाजे होते हैं अपने अपने जाके बैठ गए लेके और एक व्यक्ति ने सोचा कौन पूछता है एक मूसल लेकर के चला गया <laughs> मुसल को समझते हो उखल और मुसल है जिसमें बाजरा कूटते हैं और कूटते हैं ठीक है ना जी वो लकड़ी का भी होता है और पत्थर का भी होता है घरों में है कि के आजकल तो चक्की से काम लेने लगे है ना उसको मुसल बोलते हैं और उसको उखल बोलते हैं उसने मुसल को ले लिया वो जो धान कूटने का होता है और सारे बाजे वाले के बीच में जाके बैठ गया और एक ले लिया डंडा और जो सारे बाजे बजने लगे तो बस उसने भी जोर जोर से मारा अपने बस तल्लीन हो गया राजा ने कहा भाई ये सारंगी है ये हारमोनियम है और ये सितार है ये तो समझ में आ गया ये बाधा समझ में नहीं आया है कि ये कैसा बजता है भाई तू अकेला सुना कहते महाराज जी ये सम्मिलित बाजा है अकेला नहीं बजेगा वही कईयों का तो सम्मिलित गायन होता है पता नहीं चलता ये क्या बोल रहा है दिखाता है शायद ये खूब अच्छा बोल रहा है अब मंत्र बोलेंगे पता चलेगा ओ अस्य बाह्येत तो। तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य अस्य बाह्येत तो। मंत्र का अर्थ भी आया होगा ना कुछ समझ में बार बार सुनने से उसका अर्थ समझ में आता है अर्थ समझ में आने से वेद के प्रति श्रद्धा रुचि पैदा होती है बड़ी अच्छे लगते हैं वेद के मंत्र आप क्या गा रहे थे बोलोगे मेरे साथ हे प्रभु हम तुम से बाजा नहीं बोलना सै गए देवी विश्व को अच्छा लगा पर अब कड़ुआ सुनाऊंगा तो घबराना नहीं पहले पहले किसी बच्चे को खिलाना पिलाना हो कुछ करना पहले मीठा खिलाओ जब हम छोटे छोटे थे ना आठ वर्ष के जैसे होते हैं बच्चे और माँ क्या करती थी जब ज्वर आ जाता बुखार आ जाता ऊपर गुड़ लपेट लेती और बीच में कुनेर की गोली क्या समझ में आया उनको खिलाने के लिए क्या करती थी ऊपर तो गुड़ लपेट लिया और बीच में और खा जाते हम लोग के कारण इतना कड़वा निकलता धोखे में आ गए तो आपको पहले मीठा मीठा खिलाऊंगा फिर ऐसी कड़वी गोली खिलाऊंगा फिर कहेंगे मीठा मीठा खिला के आप आकृष्ट हो जाओगे फिर ऐसी कड़वी गोली खिलाऊंगा सारे दुख दूर हो जाए संसार को पूरे विश्व को एक दृष्टि से तीन विभागों में विभाजित किया जाता है कितने विभागों में तीन विभागों में विभाजित किया जाता है इन तीन विभागों के अंतर्गत पूरा विश्व आके समाविष्ट हो जाएगा अंतर्गत हो जाएगा जो व्यक्ति तीनों विभागों को विभाजित करना जानता है इनके तीनों विभागों के स्वरूप को जानता है वो निश्चित रूप में कृत्य हो जाता है एक है साध्य दूसरा है साधक और तीसरा है साधन नामों को याद करो साध्य और साधक और साधन पूरा विश्व विभाजित हो जाता है चप्पा चप्पा इसके अंतर्गत वर्गीकरण करते हैं हमें अपने साधे को ढूंढते हैं प्रत्येक व्यक्ति अपने साधे को देखता है और स्वयं वो साधक होता है और जिन उपकरणों से प्राप्त करना चाहता है वो साधन होते हैं कोई जाने न जाने समझे न समझे तीन में विश्व विभाजित होता है हम साधे का निर्वाचन गलत भी कर सकते हैं और सही भी कर सकते हैं साधक का निर्वाचन हम अशुद्ध भी कर सकते हैं शुद्ध भी कर सकते हैं साधनों का निर्वाचन हम अशुद्ध भी कर सकते हैं और ये भूलें बराबर होती है आज बड़े वैज्ञानिकों ने बड़ी खोज की उन साधनों की गवेषणा पर्याप्त की भौतिक विज्ञान की पर साधे का निर्वाचन ठीक नहीं कर पाए ये भूल हो गई क्या भूल हुई बताओ वैज्ञानिकों ने साधनों का आविष्कार किया भंडार भर दिए आविष्कारों के पर साधे का निर्वाचन उन्होंने गलत कर दिया ठीक नहीं कर पाए भयंकर भूलो जो साधे नहीं था उसको वो साधे माने बैठे भौतिक वैज्ञानिकों ने दूसरी भूल क्या कर दी साधक का निर्वाचन ठीक नहीं करवाया ये कौन सी भूल है नहीं साधक का निर्वाचन ठीक नहीं कर पाए परिभाषा जिसको व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है वो उसका साध्य कहलाता है आवृत्ति कीजिए फिर सुनाता हूं नहीं सुना हो तो जिसको व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है वह उसका साध्य कहलाता है जो प्राप्त करना चाहता है वो साधक कहलाता है जिन उपकरणों से साध्य को प्राप्त करना चाहता है वो उजार उपकरण उनका नाम साधन है कभी चिड़िया घोंसला बनाते देखी है हाँ जी क्यों जी देखी जो घोंसला बनाती है चिड़िया तो उनमें साझे कौन है नहीं पता चले आपको साझे कौन है घोंसला है ना और साधक कौन है चिड़िया और साधन कौन है आपको भी समझ में आ रहा है ना नहीं आ रहा है बुरा नहीं माना कभी बुरा नहीं मान जाना मेरी भाषा चलती है समझाने की कभी नाराज हो जाए दूसरे ना आए नहीं वो तो ध्यान रखो और चिड़िया ने अंडे दे दिए अंडे आ गए घोंसले में और फिर बच्चे पैदा हो गए अब साधे कौन है बताओ बैठे क्यों है जी अच्छा साधक कौन है हैं बच्चे नहीं आया समझ में साधक कौन है चिड़िया है तेल बुद्धि से काम लेना शुरू कर दो काष्ट बुद्धि रबड़ बुद्धि नहीं चलेगी यहां और साधन कौन है उन्हें ये नहीं बोलो एक उत्तर दो अपना भी ये है भाई इतने उत्तर नहीं पता आप बोल लो माताओ साधन कौन है दानी नहीं नहीं साध्य तो हो गया बच्चा साधक हो गया चिड़िया और उनको खिलाती क्या है, है? दाना अब बताओ क्या हुआ नहीं आया समझ में अब तो आ गया हाँ साधे बच्चे हैं साधक चिड़िया है और साधन दाना तो बच्चों के हुआ सारा विश्व तीन में विभाजित होता चला जाएगा गलत हो या सही हो ये अलग बात है अब ध्यान देना है यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति तीन विभागों में विश्व को विभाजित करके चलता है थोड़ी सी बुद्धि रखने वाला भी क्या समझ में आया प्रत्येक व्यक्ति अपनी बुद्धि के अनुसार विश्व को तीन विभागों में विभाजित करता चलता है वो अशुद्ध भी हो सकता है शुद्ध भी हो सकता है एक को वो प्रापणीय समझता है वो से तो अशुद्ध है शुद्ध है वो उसका साध्य माना जाता है स्वयं को साधक मानता है अपने को अशुद्ध भी जानता है व्यक्ति शुद्ध भी जानता है सुनते हैं चीन देश बहुत बड़ा है बड़े बड़े वैज्ञानिक भी हैं बिल्कुल ठीक है पर साधारणतया चीन के लोग ये मानते हैं इस पिंड के सिवाय आत्मा वात्मा कुछ नहीं है और ध्यान दो क्या क्या भूल हुई उनसे साधक को गलत मान बैठे किसको गलत मान बैठे शरीर मात्र को साधक मान लिया उसने पर वस्तुतः शरीर साधक नहीं है जी शरीर साधक है कौन है साधक है जीवात्मा साधक है और वो करोड़ों लोग शरीर को साधक मानते हैं मर गया तो मर गया पैदा हो गया पै हो गया न कोई आगे है न पीछे कोई आत्मा वात्मा नहीं यही था जो कुछ था पिंड ये भूल हो गई वहां और सतत उनका व्यापार चलता है धन कमाते हैं वैज्ञानिक भी हैं लंबा चौड़ा देश है पर इस तत्व को नहीं जान पाए अब चलिए उस और वैज्ञानिक लोगों ने बहुत परिश्रम किया और उन्होंने अपना साध्य बनाया संसार के भोग पांच इंद्रियों का भोग मिलना चाहिए व्यक्ति को और कोई प्राप्तनीय नहीं है दुनिया के अंदर जो कुछ है पांच इंद्रियों का भोग है उसको प्राप्त करना ही मानव का चरम लक्ष्य आपने कभी नचिकेता की कथा सुनी होगी बड़ा लंबा प्रकरण है और वहां पर ये सारा का सारा चित्र खींचा है नचिकेता के सामने ध्यान दो नचिकेता एक ब्रह्मचारी है यमाचार्य एक लौकिक आचार्य है ये इतिहास की दृष्टि से व्याख्या है क्या समझ में आया ऐसे बैठने से काम नहीं चलेगा बोलना पड़ेगा जो मैं कहूं वो बोल दिया करो कम से कम फिर सुनाऊंगा ऐसे नहीं बैठा रहने दूंगा इतिहास की दृष्टि से जब कथा को पढ़ेंगे तो नचिकेता एक ब्रह्मचारी है और यमाचारी एक शरीरधारी आचार्य है आलंकारिक भाषा में आलंकारिक भाषा में पढ़ेंगे तो नचिकेता जीवात्मा का नाम है क्या समझ में आया और यमाचार्य ईश्वर है अब आज सुनो आई दोनों प्रकार से व्याख्या चलती है तो नचिकेता की कथा में बहुत लंबी चौड़ी कथा आई और उस प्रकरण में जो इसका चित्र खींचा है भोगवादियों का और योगवादियों का बहुत विचित्र चित्र खींचा भोगवादी लोग कैसा सोचते हैं भोगवादी लोग क्या मानते हैं भोगवादी लोग क्या सोचते हैं वो चित्र उसमें खींचा गया निजी नचिकेता ने एक बात कही थी गुरु जी आचार्य जी मुझे ये बताओ तीन चीजें उसने मांगी तीन वर्ग जब घर पर वो नचिकेता चले जाते हैं तो यमाचार्य बाहर थे कल्पना कीजिए और बाहर से आए तो तीन दिन वो भूखे रहे ऐसा माना गया और आचार्य ने कहा कि मैं तीन दिन तक आप मेरे घर पर भूखे रहे इसलिए इसका पश्चाताप यही है कि मेरे पास में तीन वर मांगो तीन चीजें मांगो तो नचिकेता ने कहा आचार्य जी बात ऐसी है मेरे पिताजी मेरे पूर्व की भांति प्रसन्न चित्त रहे मुझसे नाराज न रहे एक दूसरी बात पांच अग्नि कौन सी है दो और तीसरा जो प्रश्न था बहुत टेढ़ा था आत्मा परमात्मा क्या चीज है ये टेढ़ा प्रश्न था वहां पर जो प्रकरण आया है उसमें ध्यान लेंगे कि नचिकेता से पूछी गई बातें नचिकेता आत्मा परमात्मा के प्रश्न को छोड़ दे और जो भोग विलास की जितनी चीजें उसको मांग ले पूरे भूगोल का राज्य ले ले पर इस बात को छोड़ दे आत्मा परमात्मा की बात मत पूछ नचिकेता जी ने उसकी धज्जियां उड़ाई हैं ये भोग विलास की सामग्री व्यक्ति को बूढ़ा बना देती है जीर्ण शीर्ण बना देती है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए मुझे तो बस परमात्मा और आत्मा चाहिए ये उसने ठुकराया था अपना वैदिक इतिहास वैदिक परंपरा में धन संपत्ति को ठुकरा दिया जाता था और आत्मा परमात्मा को सर्वोपरि माना जाता था आज ठीक उल्टा हो चुका है धन संपत्ति को सर्वोपरि माना जाता है और परमात्मा को और आत्मा को ठुकराया जाता है मानव जाति का पतन सीमाओं से बाहर जा रहा है इसी आधार पर भोगवादी व्यक्ति भोग विलास को लक्ष्य बनाने वाला व्यक्ति महान अन्यायकारी झूठा छली कपटी इंद्रियों का दास झगड़े करवाने वाला संबंधियों को ठुकराने वाला सारे के सारे दोष उसके अंदर बताए ये कहां से आई बीमारी लक्ष्य साध्य को गलत बना देखे खड़ा किया केवल एक ही केंद्र बिंदु है ध्यान देना जिसका साध्य गलत हो जाता है उसका पूरा जीवन गलत होता चला जाता है कभी करके देख लेना आप हमको यहां की घटनाओं का कम पता है दिल्ली हरियाणा पंजाब उत्तर प्रदेश वहां की स्थिति का अध्ययन हम करते हैं आप ध्यान से देखो घटना तो बहुत अधिक है आज की पढ़ी लिखी लड़की इनमें भी आचार्य अच्छी शरीर से स्वस्थ उसका विवाह करते हैं वो धन नहीं दे सकती आग लगा के उसे जला दिया जाता है वो गला घोट के उसको मार दिया जाता है फांसी खा के मर जाती है कुएं में कूद जाती है सोए तेल डाल करके जल जाती है और ये व्यक्ति भोगवादी को कोई दया नहीं आती कोई लज्जा नहीं है कोई शर्म नहीं है वो लड़की बनी बनाई दी योग्य और इसको दया धर्म बिल्कुल नहीं वो एक लड़की से विवाह करता है ध्यान देना पांच लाख वहां कमाई करता है उसको मार देता है पांच लाख और मिल जाएंगे वो दूसरी लड़की से विवाह करता है और फिर वो सोचता है इसको और मार दिया जाए तो पांच और पंद्रह लाख कमाता है दो लड़कियों को मारता है ये भोगवादी का लक्ष्य है नहीं समझ रहे आप अन्याय सारा का सारा इसके ऊपर हो रहा है अन्याय की कीली है ये नीचे से लेकर ऊपर तक अन्याय अब तो यहां तक सुनने लग गए हैं बड़े बड़े न्यायाधीश भी इस अन्याय में पकड़े हुए जाते हैं बड़े बड़े कुछ जिसके मौत हाथ में है जिसको जीवन दाता है जो न्यायाधीश न्यायाधीश आदेश देता इसको फांसी तोड़ दो फांसी तोड़ दिया जाता है न्यायाधीश कहता इसको फांसी नहीं तोड़ना वो व्यक्ति डाकू होते हुए बच जाता है आधार धन संपत्ति के क्या नहीं होता ऐसा रोज होता है ऐसा क्यों क्योंकि उसका भोग लक्ष्य बन चुका है उसको भोग चाहिए उसको धन चाहिए उसको मनुष्य कोई मतलब नहीं है जब हम रेलों में चलते हैं काला काला कोट पहन के आते हैं एक नीचे सफेद होता है हाथ में ही खाता होता है देखो तमाशा रोंगटे खड़े होते हैं एक व्यक्ति की टिकट है ले ली टिकट का वो नहीं मिल रहा वो खुई गई या और तो कहता मेरा नाम देखो वहां लिखा हुआ होगा सारे टीटियों को पूछो एक भी तो ये नहीं कहता अच्छा भाई मैं देखता हूं जिससे पूछो वही धमकाएगा चले एक बार मैंने आरक्षण तो करवा लिया दिल्ली से और जब गाड़ी को पकड़ने की अवस्था आई तो मैं टिकट भूल गया कमला नगर में अब क्या करें गाड़ी निकलती है तो समय पर नहीं पहुंच सकते टिकट लाते हैं तो और टिकट नहीं लाते हैं तो गाड़ी में बैठना पड़ेगा सिपाहियों से कुछ थोड़ा सा लिखवाया थोड़ा सा भाई आप भी कहो कि मेरी टिकट खुल गई है <laughs> ध्यान दो मैं बैठ गया और चीटी उसे पूछना शुरू किया आरक्षण मेरा है नाम भी होता है जिसका आरक्षण होता है क्या वो नाम नहीं बता सकते एक चीटी ने धमकाया दूसरे ने धमकाया रात भर धमकाते रहे मैं जूतों में पड़ा रहा और अंत में मैंने कहा कि टिकट दे दो मुझे और बात छोड़ दो टिकट लेकर के मैं बैठा इनके दिमाग में दया नाम की चीज नहीं है क्यों इनको धन चाहिए भोग चाहिए मनुष्य आज मर जाए क्यों हुआ लक्ष्य गलत बनाया इसने उद्देश्य गलत बनाया पति पत्नी की आपस में बात नहीं बन रही एक दूसरा वो उसका पति वो उसके थोड़े से विचारों के ऊपर वो मुकदमे में चले जाते हैं दोनों के दोनों ऐसी भयंकर घटना इसके मूल को तो देखो कहां से आई है बीमारी ये बीमारी आई है भोग को लक्ष्य बनाने से आई है मानव जीवन का लक्ष्य भोग है मानव जीवन का उद्देश्य केवल भोग भोगना है पशु गधे घोड़े की तरह लक्ष्य में धोखा दु, आया है वेद से लेकर के छोटे से छोटे व्यवहार भानु तक चले जाइए आप चारों वेद चारों दर्शन दस उपनिषद भरा मिलेगा केवल मानव जीवन का लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है कहीं भोग नहीं मिलेगा लोग कहते हैं हम दुनिया को ऊपर उठाएंगे दुनिया चरित्रवान बन जाएगी हम नागर, नागरिक बनाएंगे इनको एडी से छोटी तक तुम क्या नागरिक बनाओगे डाकू बना बना करके ऊपर भेजे जा रहे हो पढ़ाना लिखाना सारे के सारे रुखी वो बनाना इंजीनियर बनाना डॉक्टर बनाना क्यों बनाते हो बस पूछो मत क्यों बनाते हो ये सफदरजंग अस्पताल है दिल्ली में लंबा चौड़ा है देखा सुना हो हम्म? ध्यान दो गरीबों के लिए निर्धनों के लिए करोड़ों रुपए की उत्तम उत्तम औषधियां निर्वाचित होती हैं पर बीच के डॉक्टर लोग सारा खा जाते हैं गली श्री औषधियां देते हैं यह है भोगवाद इस भोगवादी को कुछ भी अच्छा नहीं लगता धन और संपत्ति के दो ही चीज है इसके सामने टका धर्म है टका कर्म है टका एवं परमम पदम यसे क्रिय टका नास्ती हा टका टक टकाए दिमाग को खराब मत करो धन हमारा साधन है कोई आपत्ति नहीं है धन संपत्ति खूब कमाओ कोई वादा नहीं है परंतु धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों को पंक्ति में खड़ा कर दो क्या करोगे हुँ? हम्म? धर्म सत्य आचरण न्याय आचरण धर्म अर्थ सत्य आचरण से न्याय से कमाया हुआ पैसा संपत्ति अर्थ कहलाता है उसका उचित प्रयोग करना अपने जीवन में उसको ठीक उचित प्रयोग करना अच्छे कामों में खर्च करना अच्छी चीजें खाना पीना काम का मतलब क्या है धर्म के अनुसार उसका प्रयोग करना काम और धर्म के विपरीत खर्च करना अकाम इतनी चीज समझ गए आप धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चार फल मानव शरीर के हैं इसमें वैदिक परंपरा में ईश्वर प्राप्ति को ही लक्ष्य माना जाता है भोग प्राप्ति को लक्ष्य बिल्कुल नहीं आज इसने धर्म को निकाल दिया और मुक्ति को निकाल दिया कितने बज गए दो बजे होंगे धर्म को निकाल दिया और एक मोक्ष को निकाल दिया कितने बज गए कौन कौन से बजे बस गदा घोड़ा इसमें कोई अंतर नहीं है आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत् भी निराणाम जी आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत् भी निराणाम धर्मो ही के साम अधिको विशेष है धर्मे ही ना पशु भी समान समाना मत कहो पशु से भी भयंकर श्लोक में तो पशु भी समाना पशु के समान नहीं आज तो एक गरीब बने बैठा है समाना की बात से आगे बढ़ गया तो याद रखिए धर्म से धन कमाओ संपत्तिशाली बनो वैज्ञानिक बनो पर धर्म को छोड़ के नहीं इसके साथ जोड़ो फिर खाओ पियो अच्छे काम में दान दो अच्छी से अच्छी चीज खाओ उसका अधर्म के लिए कोई प्रयोग मत करो डाकू के लिए कोई प्रयोग मत करो शराब के लिए धन को प्रयोग मत लाओ आचारहीनता मत धन को खर्च नहीं करो इसका नाम है धर्म के अनुसार खर्च करना आचरण में लाना प्रयोग करने का नाम काम है और अंत में समाधि लगा करके जो प्रातः काल सिखाते हैं मोक्ष को प्राप्त करना ये हमारी मान्यता ये वेद की मान्यता है मानव जाति आज इसको छोड़ चुकी है आप ऑटोमेशन कर लीजिए गहराई में जाइए अपने आप से पूछिए कि क्या मैं भोगवादी हूं या योगवादी आत्मनिरीक्षण करके देखो क्या दिखेगा आपको हम्म स्थिति में जाके देखेंगे आत्मनिरीक्षण करेंगे प्राय व्यक्ति भोगवाद के क्षेत्र में उतर गया है आपको पता कम चलता है आप आर्य समाज में आते हैं आप कुछ सत्संग की बात सुन लेते हैं कभी वेद की व्याख्या भी सुन लेते हैं थोड़ा थोड़ा आभास होता है शायद हम भोगवादी नहीं है वस्तुता आप ही भोगवादी है उदाहरण क्या बनेगा दोनों समय नेम प्रोडक्शन का करने वाला व्यक्ति कोई कोई मिलेगा कोई एक समय मुश्किल से करता है और कोई करता ही नहीं ये सब भोगवादियों के लक्षण है वैदिक परंपरा माता पिता बच्चे को पढ़ाते हैं लिखाते हैं धार्मिक बनाते हैं और साथ साथ ये पाठ पढ़ाते बेटा सुनो भगवान सर्वव्यापक है सच्चिदानंद है दयालु है उसका वर्णन करते बच्चे को शिक्षण देते उसको पढ़ाई के साथ साथ धार्मिक बनाते ईश्वर भक्त बनाते ये है ईश्वरवादियों का काम पर वो घरों में आजकल प्राय बंद है घरों में ये प्रशिक्षण देना बंद कर दिया गया है आने वाली पीढ़ी में प्राय समाप्ति है पिता दादाजी बहुत अच्छे थे और ये समाज के लिए तन मन धन लगाते थे बेटा आया उसमें कुछ कम और ये समाज में कम जाने लगा कम समय देने लगा कम दान देने लगा पोता आया और ये समाज में जाता ही नहीं ये परिणाम है उसका भोगवाद के क्षेत्र में उतर गया है मानव है आप भी उतर रहे ऐसी भूल मत करो ये भयंकर भूल ईश्वर से संबंध तोड़ती है और ये लक्ष्य मानने के पीछे मन का चरित्र नहीं रहता ईमानदारी नहीं रहती धर्म नाम की चीज नहीं रहती न्याय प्रियता समाप्त हो जाती है बेटी उच्चृंखल हो जाता है भाई को भाई नहीं समझता बहन भाई को कोई नाता नहीं रहता उसके सामने आपने विदेशियों का जीवन देखो अमेरिका में जो रहते हैं अमेरिका में जो उपदेश के लिए जाते हैं वो सारी की सारी बातें अमेरिका की बताते हैं जिसके जिसको आप पूर्ण देश उच्च कोटि का देश मानते हैं रोंगटे हो जाएंगे आप उसकी नकल करता है भेड़ चाल बड़े बड़े बुद्धिमान लोगों ने विद्वानों ने बताया भूल जाओ इस बात को कि विदेशियों के वहां जाएंगे अमेरिका में जाएंगे इंग्लैंड में जाएंगे हम उन्नत हो जाएंगे असंभव बात है उस व्यक्ति ने यह बताया धोखा मत खाइए बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्ति इंग्लैंड में रहने वाले रोज देख रहे हो जाएंगे वहां की घटना सुनाते सुनाते कहते तुम क्या समझते हो कि विदेश में जाने से महान बन जाएंगे विदेशियों जैसे बनने से हम कृतकृत्य हो जाएंगे उनका तो बिल्कुल सोलाने झूठ है क्या सुनोगे की कथा भोगवादियों की अमेरिका के सामने ये समस्या खड़ी हो गई आज के लड़के लड़की जब पंद्रह वर्ष की अवस्था में जाते हैं बिना विवाह के दुनिया भर की संतान पैदा करते हैं कोई रोक टोक नहीं है उनके लिए कल्पना कीजिए कि भोगवादियों की चर्चा में सुना रहा हूं आपको लक्ष्य में गलती होने से क्या हुआ साध्य गलत होने से क्या हुआ विनाश हो गया एक भारतीय था उसकी लड़की जवान थी एक जवान लड़का आता घर पर उसके साथ इनकी जो चलती है परंपरा अंध परंपरा मैत्री वही वो करने उनके रहना गुतमत भारतीय ने कहा देखो भाई हमारी ये रवाज नहीं है लड़कियों के साथ में लड़की परिवार में रहे आप न आया करें ध्यान देना अमेरिका का संविधान लड़का कहता है आप मुझे नहीं रोक सकते चाहे जब आऊंगा चाहे जब जाऊंगा चाहे जब सोऊंगा और आगे बोले तो कारागार में पैर मारोगे आप वो चुप है भारतीय ये है अमरीका की बुद्धि रो रहे हैं बुद्धिमान लोग अमरीका की इस पर रो रहे हैं कि ये संतान अवैधानिक संतान करोड़ों में पैदा होती जाती संभालने वाला कोई नहीं और क्या करें एक हमारे सुरेंद्र पाल जैसे कथा सुनाया करते थे भजन उपदेश के बीच बीच में रोचकता जाए आपको नींद न आए भाई एक बार क्या हुआ कि चोर चोरी करने घुस गए घुस गए तो घुस गए कुछ भी याद नहीं लगा और सुरेंद्र पाल जी का कहीं भाई वो वाजा वाजा होगा चारंगी होगी हारमोनी होगा और ढोलक होगा तो उन्होंने क्या किया अगर कुछ भी याद नहीं लगा तो कहेंगे तुम ये बाजे तो ले चलो कम से कम क्या समझे आप चोरों ने क्या सोचा नहीं आप नहीं सुन रही क्या चोरों ने क्या सोचा भाई कुछ भी याद नहीं लेगा पैसा रुपया तो क्या करो कोई सारंगी ले लो कोई भाई हारमोनियम ले लो कोई ढोलक ले लो और भाई कोई इकतारा ले लो वो अपना अपना ले करके चल पड़े एक ने ढोलक ले लिया ढोलक समझते ना और पीछे से पता चल गया कि चोर चोर भगदड़ मच गई और खेतों में से भागे वो खेत है ना कपास बोलते हैं ना कपास उसको बाड़ी कपास बोलते हैं ना उसको गोल गोल लगते हैं टींडे बोलते हैं उसको नहीं समझे आप खेतों में होती है जिसे कपड़ा बनते कपास और जब वो खिलती नहीं तो उसमें गोल गोल होते हैं होते ना खेतों में से भाग पड़े वो सारंगी वाला हारमोनियम वाला और ढोलक वाला भी था अब भाई पीछे से तो पकड़ने वाले आ रहे हैं और ढोलक के वो धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़ लगे और वो पीछे पीछे गए तू ढोलक में बजा कहते ढोलक बजाऊंगे मेरे गले पड़ गई ये मैं बजाता नहीं कहने के तू मरवाएगा हमको ढोलक मत बजाओ वो कहता मैं क्या बताऊं मेरे गले पड़ गई है इसलिए बज रही है मैं नहीं बता अमरीका के ढोलक गले पड़ गई है वो इसलिए ढोलक बज रही है और आपके गले पड़ेगी बहुत सा तो आ गए आप उसके फेर में आपके गले पड़ेगी ढोलक बजानी पड़ेगी और मारे जाओगे नहीं बच सकते ध्यान दो मैं चित्रण खेच रहा हूं आज के विश्व का बुद्धिमानों का जो अग्रसर माने जाते हैं वैज्ञानिक माने जाते हैं उनका लक्ष्य बिल्कुल गलत है और गलत लक्ष्य होने से सारा विश्व अंधकार में अनाचार में जा रहा है उसको रोकने वाला कोई नहीं है क्या एक बात सुनाऊं एडी से चोटी तक मानव पाप में डूबता चला गया क्यों उसका लक्ष्य गलत बना साध्य गलत बन गया आप तुलना करते चले जाइए एक योगाभाषी व्यक्ति समाधि लगाने वाला व्यक्ति दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार है मरने के लिए तैयार है भोगवादी व्यक्ति दूसरे की जान लेने के लिए तैयार है दोनों की तुलना करके देख लेना कभी भी उदाहरण लेना हो तो महर्षि दांत को देखो एक बार नहीं कितनी बार उनको मौत के मुंह में से निकलना पड़ा है और तो भी उन्होंने परोपकार करना नहीं छोड़ा नहीं छोड़ा योगी और भोगी में आकाश पताल जैसा टकराव है भोगी व्यक्ति को दया नहीं है दयाहीन होता है सारे पाप को कर डालता है इसलिए मानव जाति के अंदर निर्वाचन करते समय ध्यान दो गलत लक्ष्य न बन जाए साध्य गलत है न बन जाए कई लोग ये मानते होंगे ये कहने की बात है जब व्यवहार में उतरता है व्यक्ति जब करके दिखाओ हमने कहा कि हम व्यवहार में उतरे और मैं ये काम बिल्कुल व्यवहार में करता हूं क्या करता हूं कई कई विद्यालय चलाते हैं हम भारत भर में हमारे कार्यक्रम होते हैं दर्शनों का अध्यापन करते हैं उपनिषदों का अध्यापन करते हैं लेखन कार्य करते हैं घरों में जा जाके समय लगाते हैं परिवारों को सुधारने के लिए ब्रह्मचारी को तैयार करते हैं परंतु ईश्वर लक्ष्य को कभी नहीं छोड़ते तीन घंटे रोज लगाना ऐसा क्यों हमने लक्ष्य बनाया ईश्वर को प्राप्त करना और करवाना और ये सारे सामाजिक काम करते हुए हम इसको साथ साथ करेंगे प्राय होता यह है कि व्यक्ति समाज के काम करता है कहीं पाठशाला चलाता है कहीं विद्यालय चलाता है और काम करता है तो वो क्या भूल करता है जब वो सामाजिक काम करता है या पारिवारिक काम करता है तो उसमें होता यह है कि वो प्राय संध्या उपासना करना छोड़ देता है नहीं करता वस्तुतः स्थिति अच्छी नहीं हमारे जीवन में सभी काम करेंगे हम परंतु परमात्मा की प्राप्ति को सामने रखेंगे अब थोड़ा सा ये जानिए परमात्मा की प्राप्ति ही क्यों हमारा लक्ष्य बनता है ये जानने की चीज है जिसको मैं चाहता हूं आप चाहते हैं वो ऐसी चीज है जिसको पा लेने के पीछे व्यक्ति ये कहता है कि मैंने पाना था जो पा लिया ऐसा लक्ष्य केवल ईश्वर प्राप्ति है इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंच गए कि मानव का जीवन का लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति होना चाहिए भोग नहीं होना चाहिए अब थोड़ा सा प्रकरण बदलेंगे हम हाँ जी आपने सुना था ईश्वर हमारा साध्य है सुना था ये पर याद रखना हम कौन है हम साधक हैं कौन है ये बड़ा गंभीर विषय है ये कड़वी दवाई है पर समझनी पड़ेगी उस के ताने एक बात उठाई थी और उसने ये उठाई थी आचार्य जी ये बताइए मरने के पीछे कोई लोग कहते हैं आत्मा बच जाता है और कोई कहते हैं शरीर के साथ समाप्त हो जाता है मुझे ये बताओ शरीर के मरने के पीछे कुछ बचता है या नहीं बचता क्या प्रश्न पूछा था शरीर के मरने के पश्चात क्या कोई चीज रहती है या नहीं रहती कुछ लोग कहते हैं मरने के पीछे कुछ नहीं रहता और कुछ लोग कहते हैं मरने के पीछे आत्मा रह जाता है आप क्या मानते हैं हाँ जी आत्मा रहता है या नहीं रहता हुँ? हम्म? अच्छा भूत बनता है या नहीं बनता अच्छा आपने ये सुना है ना कोई दुर्घटना में मर गया और मरने के पीछे बेचारा वो घूमता रहा और फिर वो भूत बन गया भूतनी बन गई और फिर परिवार के लोगों को सताता है वो ऐसा सुना है ना आपने अरे बहुत बड़ा लंबा चौड़ा पचेरा है ये जो है क्योंकि मरने के पीछे भूत बन जाता है और फिर घर में आता है और किसी में घुस जाता है एक दिन की घटना सुनाऊं दिल्ली की घटना एक युवक थे आर्य सामाजिक वो भूत भूत को तो मानते नहीं थे और उनके भाई की जो धर्मपत्नी थी वो भूत को मानती थी बेचारी ऐसी घटना घटी एक दिन उसमें भूत घुस गया और वो कहने लगी मैं अमुक हूं फलानी हूं ये दो वो दो ये खाऊंगी ये पीऊंगी जब तक नहीं दोगे मैं निकलूंगी नहीं उसने कहा जगदीश जी आपकी भाभी में तो भूतनी आ गई कहते क्या हुआ वो गया क्या है भाभी जी उसने वही चर्चा छेड़ दी मैं फलानी हूं ये है वो दो जगदीश में दो मारे थप्पड़ और वो कहने की नहीं मैं आपकी भाभी हूं मैं भूतनी उतनी कुछ नहीं इसलिए ये सारे के सारे ठग लोग चालाक लोग बहकाते करोड़पति बन जाते और कहते भाइयों झाड़ा झपटा दो भूत बन गया ध्यान दो होता क्या है मरने के पश्चात जीवात्मा परमात्मा के अधिकार में चला जाता है याद रख लो क्या होता है मरने के पश्चात परमात्मा उसको अपने अधिकार में ले लेता है कहीं नहीं जा सकता और उसके कर्मों के अनुसार अगली योनि मिलती है कोई भूत भूत नहीं बनता आजकल भी बहुत से लोग इसके गीत गाते हैं भूत भूतनी बिल्कुल बेकार की चीजें कोई भूत भूत नहीं बनता दूसरी बात ध्यान से सुन लो यदि क्लोरोफान सुंगा दिया जाए व्यक्ति को तो वो भागेगा क्या बोलो अच्छा शरीर ना रहे तो ध्यान दो तर्क से तर्क से भूत का खंडन है ये शरीर ना हो तो क्या जीवात्मा चल सकता है शरीर तो नष्ट हो गया जो शरीर नहीं है तो जीवात्मा जा आ सकता है क्या तो इसका मतलब भूत नहीं बन सकता शरीर के बिना जीवात्मा गति ही नहीं कर सकता कहां भूत बनेगा जाना आना कहां करेगा और दूसरी बात मरते ही परमात्मा के अधिकार में आता है जीवात्मा और जैसे कर्म होते वैसे पर याद रखो पूर्व पक्षी ने एक बात उठाई अब दर्शनों की बात चलेगी इसके साथ साथ घबराना नहीं हमें गहराई में जाए बिना आनंद नहीं आता समझे ध्यान दो एक व्यक्ति ने कहा कि ये शरीर ही सब कुछ है आत्मा वात्मा कुछ नहीं है क्या कहा शरीर के अतिरिक्त कोई आत्मा वात्मा नहीं है इस पिंड का नाम ये सब कुछ है ध्यान देना सिद्धांति ने कहा कि भाई शरीर आत्मा नहीं है है जी शरीर आत्मा मरने के पीछे मौत के पश्चात कोई भी व्यक्ति हाव भाव आंखों का खोलना मीचना कोई नहीं रहता उसने कहा कि यदि शरीर ही आत्मा होता तो मरने के पीछे भी बातचीत करता हाव भाव होते आंख मिसता तो ऐसा होता नहीं आज के वैज्ञानिक लोग कहने लगे एक विशेष तत्वों के मेल का नाम चेतनता है वो क्या कहते हैं विशेष तत्व इकट्ठे कर दिए जाते हैं और वो चेतनता आ जाती है आत्मा वात्मा कुछ नहीं है ध्यान दो वैज्ञानिकों से पूछा गया तुम ये बताओ वो कौन से तत्व है जिनके इकट्ठा होने से चेतनता आ जाती है कहते हैं वो हम नहीं बता सकते एक अमीवा नाम का कीड़ा सुना आपने अमीवा नाम का कीड़ा और वो जैसे विकासवादी कहते ऐसे ऐसे तंतु उसमें मिले और वो अम्बीवा नाम का कीड़ा बन गया फिर वो मछली बन गया फिर वो बंदर बन गया पूछ घिस के मनुष्य बन गया आज तक कोई भी व्यक्ति इसको सिद्ध नहीं कर सका कि विशेष तत्वों के मेल से चेतनात्मा पैदा होता है कोई सिद्ध नहीं कर सका वैज्ञानिकों ने एडी से चोटी तक का जोड़ लगाया है अब भी लगा रहे पर ऋषियों ने आज से हजारों वर्ष पहले या लाखों वर्ष पीछे ये सिद्ध कर दिया कि जीवात्मा एक चेतन तत्व है जीवात्मा बिल्कुल अलग है शरीर नाम की चीज बिल्कुल अलग है दर्शनकारों ने इसके ऊपर बहुत लंबा प्रकरण लिखा है पूर्व पक्षी ने एक बात कही वो कहने लगे देखो भाई बात ऐसी है सिद्धांति ने एक बात कही थी पृथ्वी के कण है वो चेतन नहीं है जल के कण भी चेतन नहीं है अग्नि के कण भी चेतन नहीं है वायु के कण भी चेतन क्या समझे आप चेतनता इनमें किसी में भी नहीं है आई बात समझो या है तो इनके मेल से चेतन प्राप्त कैसे हो जाएगा ये प्रसंग उठा इनके मेल से चेतन तत्व कैसे पैदा हो जाएगा पूर्व पक्षी ने कहा बात ऐसी है अंगूर से शराब बनाते हैं क्या बनाते हैं अब गुड़ से भी शराब बनाते हैं जान बनाते हैं ना उसने कहा गुड़ छड़ा दो अंगूरों को शराओ उसमें ये डाल दो और उसमें वो डाल दो ना तो अंगूर में शराब होती ना उसके दूसरी चीजों में शराब होती दो तीन चीज मिलने पर शराब पैदा हो जाती है नशा देने लगती है ऐसे ही इनके मेल से चेतनता हो जाती है अब क्या समझ में आया उन्होंने क्या कहा सिद्धांति ने कहा था पृथ्वी के परमाणुओं में चेतनता नहीं है और जल के परमाणुओं में भी चेतनता नहीं है अग्नि के परमाणुओं में भी चेतनता नहीं है और वायु के परमाणुओं में भी चेतनता नहीं है तो चेतनता आई कहां से उसने कहा इनके सम्मिश्रण से चेतनता हो जाती है जैसे शराब बन जाती है सिद्धांति कहता है क्या आपने कहा कि इनके सम्मिश्रण से चेतनता आ जाती है मैं आपसे पूछना चाहता हूं शराब जिन चीजों की बनाई जाती है उनमें नशे का भाव पहले से विद्यमान होता है क्या समझ में आया शराब जिन तत्वों से उत्पन्न होती है उनमें पहले से नशे का भाव रहता है उसके सम्मिश्रण से शराब बनती है और कंकरों के मिलाने से शराब नहीं बनती इसलिए उसका खंडन किया और यह कहा कि ध्यान दो कि पृथ्वी जलवायु के लिए आज के मेल से आत्मा का की उत्पत्ति नहीं होती आत्मा चेतन आत्मा उत्पन्न नहीं होता शरीर से अलग है आत्मा शरीर से दूसरी बात और सुन लो वैश्व नहीं सांख्यकार कहता है एक सूत्र बनाया सांख्यकार ने षष्टी विदेश आटपी छठी भी व्यक्ति का प्रयोग देखने में आता है इसलिए आत्मा जो है शरीर से अलग सिद्ध होता है छठी भी व्यक्ति को जानते हो आप जी नहीं जानते पढ़ाना पड़ेगा आपको नहीं कर्ता कर्म बोलो कर्ण संप्रदान अपादान संबंध अधिकरण संबोधन कर्ता कर्म कर्ण संप्रदान अपादान और संबंध ये संबंध है सृष्टि की वृत्ति इसको याद रखना आप सांख्यकार ने सूत्र बनाया सृष्टि भी आतपी सृष्टि भी वृत्ति का प्रयोग यहां पर व्यवहार में होता है तो जीवात्मा शरीर से अलग है दोहराते जाओ तो घबराना नहीं है ईश्वर को तो आपने समझ लिया पर आत्मा को बिना समझे ईश्वर ठीक समझ में नहीं आता कभी सृष्टि की वृद्धि का उपदेश कैसे होता है है जी है जी मेरा हाथ है मेरी नाक मेरा कान मेरी टांग ये कौन सी विभूति है हाँ जी फिर दोहराऊं मैं क्या बोलता हूं मेरा हाथ मेरा कान मेरी नाक मेरी आंख मेरी टांग ये क्या है समझाए बिना नहीं छोड़ेंगे घबराना नहीं हरिश्चंद्र जी कहते हैं मेरी कोठी मेरी गऊ इसका क्या मतलब है गौ अलग चीज है और हरिश्चंद्र जी अब तो पता चला या अब भी नहीं चला है हरिश्चंद्र जी अलग है और कोठी देवदत्त अलग है और गौ और ये मेरा हाथ इसका मतलब क्या निकला बताओ मेरा हाथ इसका क्या मतलब है मेरा जो कहता है वो हाथ नहीं है वो कहता है मेरा हाथ मेरा कान इसका मतलब कान से हाथ से कोई दूसरा व्यक्ति है हो गया सत्य यदि ऐसा ना होता तो वो ये कहता मैं हाथ है मैं कान है मैं नाक है मैं टांग ऐसा कहना चाहिए था ऐसा कोई नहीं कहता वो कहता मेरा हाथ इसका मतलब हाथ वाला कोई स्वामी है मेरी टांग ऋषि ने कहा छठीवी भक्ति का उपदेश व्यवहार है इसलिए जीवात्मा शरीर से अलग है चलो आज आपने एक तो ये बात ध्यान से सुनी संसार को तीन विभागों में विभाजित किया जाता है साध्य साधक साधन तीन में जो भूल करता है विफल होगा गलत नहीं होने चाहिए तीनों के तीनों साध्य जिसका ठीक है साधक जिसका ठीक है साधन जिसका ठीक है वो व्यक्ति सफल है दुनिया आज के विश्व के तीनों बिगड़ गए तीनों खराब है साध्य भी गलत है और साधक भी गलत है और साधन भी गलत है कुएं भांग पड़ रही है इनकी हालत वैसी ही है हमारे भजन उपदेशक सुना करते थे कथा कि भाई वो वाराणसी के लोग थे या मथुरा के थे कहीं के भी हो गंगा के किनारे थे और वो भांग पी जाते घोट घोट के आपने देखा होगा ना भांग घोट घोट के पी जाते और दस्त हो जाते उन्होंने भांग पी डाली खूब नशा हो गया और कहने लगे चार घुमाई करेंगे फलानी नगर तक चलेंगे गंगा की नाव में बैठ बैठ कर और भांग पी करके बैठ गए और नाव बंदी हुई थे रस्सी से क्या होता है नाव रस्सी से बंधी हुई होती है देखी ना किनारे पर उन्होंने भांग तो पी ली खूब जोर का नशा हो गया और कहीं वो चप्पू मारते हैं ना वो चलाने वाले और रस्सी तो खोली नहीं उन्होंने और चप्पू मारना शुरू कर दिया बताते प्रातः काल तक चप्पू मारते रहे और जब थोड़ा सा प्रकाश हुआ तो भांग भी कर गई कहेंगे ये नगर तो वैसा दीखता तो है और दीखता क्या है तो वही वाराणसी है यही रस्सी यही बंधी हुई थी इनका चप्पू तो बना हुआ चप्पू मार रहे अरे भांग पी रहे सारे के सारे कोई पता नहीं इनको भेड़ के पीछे भेड़ इसको भेड़ चाल बोलते हैं तो एक तो मैंने ये बतलाया साध्य गलत नहीं होना चाहिए वैदिक धर्म ऋषि परंपरा ईश्वर को साध्य मानते हैं भोग को साधन मान के चलते हैं साध्य नहीं मानते जीवात्मा को साधक मानते हैं पिंड ही नहीं है इसे अलग चेतन आत्मा है वो साधक है और भोजन वस्त्र जितनी चीजें हैं बाहर की शरीर सोना चांदी संपत्ति इसको साधन मानते हैं इसे तीनों का परिजान होना अनिवार्य है अब मैंने चर्चा छेड़ी साधक की किसकी छेड़ी जीवात्मा वो शरीर नहीं है जीवात्मा इंद्रिया भी नहीं है जीवात्मा मन भी नहीं है जीवात्मा आप एक निर्णय पर पहुंचेंगे और ध्यान देंगे जो व्यक्ति जीवात्मा को नहीं जानता वो परमात्मा को नहीं जानता याद रख लीजिए आप अब हम विराम की ओर चलेंगे है हाँ जी ठीक है या नहीं बेने आत्म जाने